रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को टोरंटो से अमित तिवारी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज का दिन है शुक्रवार और आज हम कार्यक्रम लेके आते हैं आपकी बात पिछले हफ्ते तक इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे अपने सजीव जी पिछले हफ्ते उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या इस कार्यक्रम को मैं अपनी आवाज़ देना चाहता हूँ भाई मैंने सोचा सोने पे सुहागा क्यों नहीं इस बहाने कम से कम आप लोगों से बातचीत तो हो सकेगी आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को कमेंट्स के माध्यम से मैं रोज़ाना ही लगभग अपनी रेडियो प्लेबैक इंडिया पर पढ़ता हूँ और सजीव जी भाई उनका क्या कहना उनकी आवाज़ और उनका प्रस्तुत करने का तरीका शायद अपने आप में सबसे निराला है तो सोचा अच्छा भाई ठीक है आ, कुछ मैं भी करूँ इसी बहाने आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा तो आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आपकी आवाज़ लेकर जहाँ मैं आपके पत्रों को पढ़ूंगा आप लोगों से कुछ वार्तालाप करूँगा हाँ ज़रूर ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें आप मुझे बताएं कि कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है और यकीन मानिए इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा इंटरनेट पर अगर आप जाते हैं तो आपको तरह तरह की वेबसाइटें मिलेंगी वेबसाइट से मेरा मतलब है गानों से रिलेटेड जहाँ पर आपको हिंदी गाने मिलेंगे हिंदी गानों की लिरिक्स मिलेंगी शायद आपको कहीं पे क्लासिकल गाने मिले लाइव 24 घंटे लाइव चैनल मिले सोचा कि भाई आ, इतनी सारी साइटें हैं तो क्या ऐसा कुछ हम हटकर करें कि जिससे आप सभी का इसमें इंटरेस्ट बना रहे आप हम सबको अपनी शुभकामनाएं दे सकें और आप सबके माध्यम से हम कुछ नया कर दिखाने की कोशिश करें भाई देखिए यहाँ पर सजीव जी हों या फिर अपने अनुराग जी या सुजोय जी विश्वदीपक जी कृष्ण मोहन जी हर कोई अपना अपने सुझाव लेकर हमारे सामने आता रहता है फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने सुझाव हमें हमारे पास भेजें आप हमें बताएं कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं जो कि शायद सभी लोगों को पसंद आए पिछले हफ्ते सिंड्रेला जी के का एक इंटरव्यू लिया था सजीव जी ने सिंड्रेला शायद आप जानते होंगे सत्यमेव जयते में आमिर खान जी के सामने इनका साक्षात्कार हुआ था तो इस पर हमारी एक बहुत पुरानी पाठिका इंदुपुरी जी ने अपना कमेंट दिया था वो कहती हैं कि प्यारे सिंड्रेला प्यार पूरा इंटरव्यू पढ़ा और गॉसिपल्स भी सुने इलाहाबाद में हम खूब जाते थे चर्च यीशु को इतना प्यार करती हो वो तुम्हारे दिल दिमाग रगो और सांसों में बसे हुए हैं वरना इतनी टैलेंटेड हो इतनी प्यारी आवाज़ पाई है और इस भौतिक युग में खुद को व्यावसायिकता से दूर रखना आसान नहीं जियो खूब खुश रहो यीशु की लाडली बेटी बनकर हमेशा उसके करीब रहो प्यार देखिए भाई इंदू जी ने क्या बढ़िया बात करी है और अपनी इन्होंने दुआएं दी हैं और यकीन मानिए इंदू जी हमारा हमेशा से प्रोत्साहन करती आई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करती रहेंगी अब मैं पे भी बात कर रहा था कुछ नया कर गुजरने की तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले दो तीन हफ्तों से या फिर शायद थोड़ा सा समय ज़्यादा हो चुका है हम हर सोमवार को एक नई फिल्म की या फिर नई एल्बम की समीक्षा लेकर आते हैं हम कोशिश करते हैं कि एक आम श्रोता को किस तरह के गाने पसंद हैं या एक आम श्रोता अगर उस गानों को सुने तो उसको किस तरह के गाने पसंद आएंगे व्यावसायिकता से हट का अलग हम अपनी तरफ से अपनी समीक्षा करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अपनी रेटिंग देते हैं अब भाई देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है हर व्यक्ति का अपना टेस्ट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मैं किसी गाने को बहुत बढ़िया रेटिंग दूँ तो शायद आपको पसंद आए या फिर इसको मैं बहुत कम दूँ वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगे फिर भी हमारी अपनी कोशिश रहती है कि हम नए गानों के बारे में आपको बताएं इसी तरह से बुधवार का दिन हमने रखा है पुस्तक चर्चा का अगर आप कोई किताबें पढ़ते हों और आपको लगता है कि आपने कोई किताब पढ़ी जो सचमुच कुछ अलग से हट कर थी कुछ इंटरेस्टिंग किताब तो हमारे साथ शेयर करें हम ज़रूर इसको यहाँ पर प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल लीजिए पिछले हफ्ते मैंने तमस भीष्म मसानी द्वारा लिखा उपन्यास करीबन 20 या 22 सालों के बाद दोबारा से पढ़ा उन्नीस के पार्टीशन पर आधारित उपन्यास है ये और जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आंखों के सामने सजीव आकृतियाँ सामने आ गई हैं उनके चेहरे अपने आप मेरे आंखों के सामने बन रहे थे और अपने आप ही मैं एक एक एक चरित्र को दूसरे चरित्र से जोड़ता जा रहा था दूरदर्शन पर काफ़ी समय पहले तमस नाम से एक सीरियल भी आया था अभी तक तो उसको देखने का चांस मिला नहीं हो सकता कहीं से मुझे उसकी शायद वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो उसको भी देखूं और शायद देख पाऊँ कि हाँ जो सचमुच की किताब लिखी गई थी वो कितना उससे मिलता जुलता है या वास्तविकता से क्या कुछ अलग है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बात करता है कितना ज़्यादा बोलता है तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं एक गाना सुनवाना चाहता हूँ केसरिया बालम पधारो मारो देश फिल्म डोर से अगले हफ्ते वापस आप सबसे वापस मुलाकात होगी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा तब तक के लिए नमस्कार अलविदा शब्बा खैर केसरिया